की दोस्ती की एक नजर चाहिए बस यूं ही साथ चलते रहो ए दोस्त ये दोस्ती हमें उम्र भर चाहिए जी हाँ दोस्तों महफिल में शरीक कर रहे हैं अगला ईमेल जो हमें प्राप्त हुआ है समीर लाल समीर जी का कनाडा से और इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि ये भी काफी अच्छे शायर और लेखक हैं बिखरे मोती किताब का विमोचन टोरंटो में हुआ था ये लिखते हैं आज का ताजा अखबार और आज की ताजा खबरें मोटे मोटे काले हरफों में लाल लाल खून की जिंदा तस्वीरें ये इंसानी खून भी कितनी जल्दी सूख जाता है लाल ताजा खून काले हरफों में बदलता है और कुछ पलों में इंसान उन्हें भूल जाता है बहुत ही गहरी बात है समीराज लाल समीर जी के फिलहाल आइए हम मैसेज डालते हैं हमारे एसएमएस की तरफ जो हमारा इंतजार कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों एक एसएमएस जो हमें